प्रतिष्ठिता मनो में अध्याय के ये अवतरण भाष्य शुरू कर दिया है टीका में कहा एवं अध्यारोपादाभ्याम आत्म तत्व निरूप्य इस प्रकार से पूर्व अध्याय में अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से पहले स विमान लोकान अस्तित्व यहां से अपवाद आरंभ हुआ और अंतिम मंत्र में जाकर के अध्यारोप अपवाद भी शुरू हो गया स एतम पुरुषम ब्रह्म तत्म पश्चात इदम अलक्षण ये अपवाद है पहले अध्यारोप चल रहा था कहा अध्यारोप अपवाद के द्वारा आत्मतत्व का निरूपण कर दिया यानी सृष्टि के पहले आत्मा ही था अपवाद काल में भी आत्मा ही रह जाता है केवल ब्रह्म ही रह जाता है तो इसलिए आत्मा ही है गए करके उस आत्मा तत्व को ज्ञान है गया उसका ज्ञान कैसे होगा आत्मा का आत्म दूषित आत्मस्वरूप जो अपना स्वरूप है उसका ज्ञान है वैराग्य कारण है जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा देहादि से वैराग्य नहीं होगा तब तक आत्मा की तरफ रुचि नहीं होगी अभिरुचि नहीं होगी तब तक देहादि के साथ संबंध होगा तो देहादि के इष्ट पूर्ति के लिए चेष्टा करता रहेगा आत्मा के तरफ साधना करेगा नहीं वैराग्य कारण है कहा भी है वैराग्य बोध हो पुरुष से पक्षगत पक्ष बीजानी ही विचक्षणत्व विगत पुराण में समझा दोनों चाहिए वैराग्य और बोध दोनों चाहिए वैराग्य भी चाहिए बोध माने परोक्ष ज्ञान भी चाहिए अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा आत्मा है ये बुद्धि होनी चाहिए और विषम से वैराग्य भी चाहिए वैराग्य बोध पुरुष से पक्षगत स्मरण के दो पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये दो साधन है इसके पास पक्ष बीजान ही विचक्षण तुम बुद्धिमान तुम इसको पक्ष समझो दोनों दो पंख समझो जैसे एक पक्ष से पक्षी उड़ नहीं सकती है दो पंख चाहिए उसी प्रकार आपके पास यदि केवल वैराग्य है तभी काम नहीं चलेगा पर केवल परोक्ष ज्ञान है पांडित्य आपके सामने है वैराग्य नहीं है तो वो भी काम नहीं चलेगा पांडित्य चाहिए परोक्ष ज्ञान चाहिए किंतु तो साथ में वैराग्य भी होना चाहिए तभी आपकी साधना सफल होगी दोनों चाहिए तो वैराग्य का हेतु आत्मज्ञान में वैराग्य ही हेतु है शरीर आदि में घृणा आनी चाहिए इसलिए ज्यादा इसके तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए तभी आत्मा की तरफ जा सकता है तदर्थम जीवावस्था प्रबंध इसके लिए ये जीव की जो अवस्था है यहां दिखाएंगे किस किस स्थिति में जीव गुजरता है इन शरीरों में ये शरीर कैसे प्राप्त करता है और किस तरह से छोड़ता है तो ये सारे देखने के बाद शायद वैराग्य हो जाए किसी को इसके लिए त्रय तस्य त्रय आवश्यकता पहले कहा था उसके तीन स्थान है कहा था जो तो मूर्धा को विदारण करके यहां प्रविष्ट हुआ आत्मा है उसके तीन स्थान है बोला था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन स्थान इसी में घूमना है जीवन भर उसने अथवा उसके पितृ शरीर में रहना मातृ शरीर में रहना अथवा अपने शरीर में रहना तीन स्थान सबसे पहले पिता के शरीर में होगा वो पश्चात माता के शरीर में पहुंचेगा फिर अपने शरीर में रहेगा ये दिखाना है ये ज्ञान है तो त्रय तस्य त्रय आवश्यकता जो पूर्व में कहा था उसके तीन निवास स्थान ने कहा था उसके द्वारा उपस्थित हुआ शरीर त्रय जो मुख्य रूप से जागृत स्वप्न सुशुभ भी कहा था अथवा करके कहा था तीन शरीर भी हो सकता है कहा ये तीन शरीर यहां दिखाना है प्रपंच हितम पंचम अध्याय अवतार भूमिका भूमिका ये पंचम अध्याय के अवतरण देते हुए भूमिका करते हैं भाष्य में कहा था स एवं संसरण जब संसार में विचरण करता हुआ जीव है उपात्त देहेन्द्रिय संघातम त्यजती जो शरीर प्राप्त है शरीर इंद्रिय संघात जो प्राप्त है उसको परित्याग कर देता है समय एक समय पर त्यक्वा अन्य उपादत्ते और इसको त्यागता है तो दूसरे को ग्रहण करता है अपने कर्म के फल के आधार पर चौरासी लाख योनि में कौन सा योनि में जाएगा पता नहीं किंतु एक छोड़ता है दूसरे को पकड़ता है इस तरह से घूमता है पुनः एवं पुनर्पुनर एवं देव नदी स्रोतों पर जैसे नदी का स्रोत निरंतर चल रहा है इसी प्रकार ये भी जन्म मरण के प्रवाह में चल रहा है पैदा होता है तो शरीर छोड़कर मरता है मरेगा तो फिर कहीं पैदा होगा यही चलता है इसका नदी स्रोतोवत जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद है जन्म वर्ण का जो प्रवाह है विच्छेद नहीं होता इसका जैसे नदी का स्रोत का कभी विच्छेद धारा का विच्छेद नहीं होता धारा चलती रहती है निरंतर इसी प्रकार इसका भी अविच्छेद होने से वर्तमान ऐसे चलता हुआ रहता हुआ जीव काभीर अवस्था भी वर्तते किन अवस्थाओं से रहता है क्या किस किस अवस्थाओं में रह जाता है कैसी कैसी आपत्तियां झेलता है इसके लिए इति एतम अर्थम दर्शयंती इसी अर्थ को दिखाती हुई स्तुति दर्शयंती क्रियापद में यह सक्रंत है ऐसा दिखाती हुई स्तुति आह दर्शयंती स्तुति आह ऐसे दिखाती हुई स्तुति कहती है वैराग्य है तो यहाँ अभी प्रकरण आएगा वैराग्य के लिए वैराग्य जीव को वैराग्य दिखाने के लिए एक कहना चाहते हैं आगे बोलते हैं अयमेव अविद्या काम कर्म अभिवान यज्ञादि कर्म के ये जो यही अयम एवं जो जीव बना हुआ है मूर्धा को विदारण करके प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट होने के बाद में शरीर के साथ अपनी एकता कर गया पहले तो अलग स्वरूप था जब यहां आने के बाद तादात्म हो गया जिस शरीर में आया उसी को मैं कहने लग गया अयम एवं यही जो प्रविष्ट हुआ मूर्धा को विदारण करके प्रविष्ट हुआ आत्मा है यहां इदम शब्द से दिखा रहे इसी को अविद्या काम कर्म भी अभिमान देखो अज्ञान है अविद्या है तो विषयों की इच्छा होगी विषयों की इच्छा होने पर अनुकूल तद अनुकूल कर्म करेगा उसकी पूर्ति के लिए यही संसार का स्वरूप होता है अविद्या काम और कर्म उसमें अभिमान उसके द्वारा शरीर आदि अभिमान है तो यज्ञ आदि कर्म कृतवा क्योंकि स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छा हो गई आदि कर्म करेगा आदि कर्म कृतवा अस्मात लोकात धुमाधिक्रमण चंद्रमसम प्राप्त है पंचाग्नि विद्या में चर्चा है छांदोग्नि में में इस श्लोक से धूमादिक्रम से ऊपर चंद्रमसम प्राप्त स्वर्गलोक प्राप्त करके छेड़ कर्मा जब वहां पुण्य कर्म स्वर्ग का फल समाप्त हो जाएगा उस स्थिति में दृष्टियादि क्रमण एवं लोकम प्राप्त किया फिर वहां से देवता लोग हवन कर देंगे पर्जन्य रूप अग्नि में दृष्टि रूप से पैदा होगा पहले तो यहां आहुति रूप में हवन किया था उसने वहां जाके सोम रूप से पैदा हुआ उस सोम को देवता लोग वृष्टि में हवन कर देंगे उसमें पर्जन्य में माने बरसात के पहले के जो जल ऊपर बादल है उसको पर्जन्य बोलते हैं गिरते समय वृष्टि बोलते हैं वृष्टि रूप से हवन करेंगे देवता वृष्टि रूप से हवन पर पृथ्वी में अन्न रूप से पैदा होगा फिर उसको अन्न को देवता लोग हवन करेंगे पुरुष रूप अग्नि में फिर वहां पर वीर रूप में तैयार होगा फिर पुरुष के माध्यम से स्त्री में सिंचन होगा हवन होगा स्त्री रूपी अग्नि में तो फिर यह मनुष्य रूप में पैदा होगा पांच हवन करने की चर्चा है पांच पैदा होने की चर्चा है ये तो कहा मान यज्ञादि कर्म करने वाली जीव की चर्चा है अच्छे काम करने वाली जीवों की चर्चा है तो अस्मार्थ लोग धुमादि कर्म चंद्रवसन प्राप्त स्वर्ग लोग प्राप्त करके क्षीण कर्म जब कर्म क्षीण हो गया स्वर्ग भोग देने वाला कर्म समाप्त होने पर वृष्टियादि क्रमण एवं लोकम प्राप्त फिर आदि क्रम से नीचे आएगा वो इस लोक को प्राप्त करके अन्न भूत इस लोक में आगे पहले अन्न होगा गृहवादी अंध बनेगा वो अंध के साथ होगा वो पुरुष आग्रह होता है पुरुष रूपी अग्नि में हवन हो जाएगा उस अन्न का तब तस्मिन पुरुष है यहां मंत्र में पुरुष है हवा इत्यादि है ना उस पुरुष में उस मनुष्य में पुरुष में भाई अयम संसारी जो संसरण करने वाला जीव है संसारी रसाधिक्रमण आदिता प्रथमोत्तर रेत ऊर्जा पुरुष में भी एकाएक रेत नहीं बनता सप्त धातु में अंतिम धातु पुरुष शरीर में रेत होता है स्त्री शरीर में रज होता है ऐसी तो रस होगा सबसे पहले अन्न जब अन्न खाते हैं कोई भी व्यक्ति खाते हैं तो पेट में जाने के बाद जाठराग्नि के द्वारा पकता है पकने के बाद बाष्पीकरण होकर के अलग अलग हो जाएगा फूल भाग तो मलबूत्र होकर के निकल जाएगा उस अन्न का सूक्ष्म भाग जो होगा मध्यम भाग वो होगा उसका रस बनेगा उसके बाद फिर रक्त बन जाएगा धीरे धीरे लाल कणिका हो जाएगा रक्त बन जाएगा रक्त बनने के बाद में थोड़ा गाढ़ा होगा मांस बनने लग जाएगा मांस के बाद में मेधा बनेगा मांस ज्यादा होने के बाद चर्बी बन जाएगी मेधा बनते बनते आगे कठोर होकर के हड्डी बन अस्थि बन जाएगा अस्थि बनते बनते अस्थि के भीतर में जो कठोर मांस जैसा होता है मज्जा जिसको बोलते हैं वो बनेगा उसके पश्चात यहां तक छह धातु तक तो स्त्री पुरुष में समान चलता है शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो सप्तम धातु में अंतर पड़ जाएगा पुरुष शरीर में बीज रूप में तैयार हो जाता है स्त्री शरीर में वो रजो रूप में तैयार होता है इसी के दोनों को स्पर्शन से आगे शरीर बने ये कहना चाहते हैं अयम संसारी रसादिक्रम रसादिक्रम से सीधा सीधा रेत रूप में पैदा नहीं होता पहले रस होगा फिर रक्त होगा मांस होगा अस्थि मेधा अस्थि मेघ होगा अस्थि होगा मज्जा होगा उसके बाद रेतमना दशनादि क्रमिणा आदिता माने प्रथम पुरुष हवा अयम आदितो गर्भ है सबसे पहले पहले ये रेतो रूपेण गर्भ होती रेत रूप से पैदा होगा गर्भ में पुरुष के शरीर में ये रेत रूप में रहेगा ये तब ये कहा ये रेत पुरुषे रेत स्थिर रूपेणा पुरुष में जो रेत है उस रूप से रहता है तो ये गर्भ है उसका ठीक है टिप्पणी एक नंबर का रसाधिकरण सच अयम क्रम और क्रम ये है खाया हुआ अन्न का एकाएक रेत मान वीर नहीं बनता स्त्री शरीर में रज भी नहीं बनता एकाएक कैसे होता है क्रम यह है अन्नाद रस सबसे पहले अन्न भक्षण किया तो उसे रस तरल भीतर बाष्पीकरण होकर रस पैदा होगा रसाद रुधिरम वही रस जब ब्लड प्रेशर के बाद जब उसे घूमने लग जाएगा तो रक्त बन जाएगा लाल कणी का आ जाएगा रक्त हो जाएगा ततो मांसम उसके पश्चात गाढ़ा हो जाएगा मांस हो जाएगा खाया हुआ अन्न का तगड़ा हो जाएगा ततो वेद इसलिए उसके बाद वेद बनेगा के बाद चर्बी हो जाएगी कठोर होगा ततो मज्जा उसके बाद मज्जा फिर अस्थि तत्व रेखा उसके बाद रेखा क्रम है सप्तधातु इसको बोलते हैं इस क्रम से चलता है ये बताया टीका से देखें <clears throat> यावद अयम इति आरभ्य व उत्तराध्याय से भूमिका है यहां स एवं से आरंभ किया था उत्तराध्याय की बोली का किंतु पूर्व प्यारा से पैरा से भी बोलते हैं यावत अयम यहां से लेकर ही आगे का अध्याय की भूमिका हो सकती है यावत अयम एवं यथोक्तम एवं आत्मान व्यक्ति तावत यहां से लेकर के पूरे उत्तराध्याय की भूमिका समझ अथवा ये कर दिया यावत एवं इधे आरभ्य व उत्तराध्याय से भूमिका इधानम अध्याय अवतार अध्याय का अवतरण करते हैं स एवं इत्यादि भाष्य में कहा था टीका में इति जिज्ञासायाम अवस्था रूपम अर्थम इति एतम अर्थम भाष्य में जो दिया था उसका अर्थ कहा इति जिज्ञासा ऐसा जिज्ञासा किस अवस्था से रहता है ये जीव पिता आदि के शरीर में किस अवस्था से रहता है और संसार को घूमता हुआ किन किन अवस्थाओं से गुजरता है ये कहना आता है इति एतम अर्थम भाष्य में दिया उसका अर्थ किया इति जिज्ञासा है इति ऐसा जिज्ञासा होने किन किन अवस्थाओं में इस पर चलना पड़ता है ऐसी जिज्ञासा होने पर इस प्रकार के अर्थ है ये बता इतने तुम्हारा होगा वैराग्य हेतु तो कहा था किसके लिए कहा गया ये वैराग्य के कारण यहां जीवों की जो अभी दुर्दशा दिखानी है वैराग्य आ जाए इसको आगे शरीर न मिले इसके लिए प्रयत्न करें हाँ, इसके प्रयत्न ये किए आत्मा की तरफ अपने मनोवृत्ति को लगा दे कभी शरीर नहीं होगा इसी के लिए है वैराग्य वैराग्य हेतु तो माने वैराग्यार्थम वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है प्रयोजन यही है इस प्रकरण का प्रयोजन जीव को वैराग्य पैदा उत्पादन करो जीवावस्था रूप से जन्म त्रयस्य जो जीवा जीवावस्था में जब रहेगा तीन जन्म इसका होना है पहले पितृ शरीर से निकलना एक जन्म फिर मातृ शरीर से निकलना दूसरा जन्म फिर ये शरीर छोड़ने के बाद फिर तीसरे शरीर में जाना और तीसरा जन्म होगा ऐसा दिखाया गया जीवावस्था रूप से जब तक जीव अवस्था में रहा होगा ये जब अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है तब तक ये तीन जन्म के चक्कर में चलेगा जन्म प्रयस्य अत्यंत विभत्सा रूपत्वाद अत्यंत घृणित स्वरूप है अत्यंत विभत्सा अत्यंत घृणा स्वरूप है इतनी दुर्दशा इसकी होती है ऐसी स्थिति आ जाती है अत्यंत विभत्सा रूप बद धातु से हुआ है संप्रत्य करके विभत्सा बनाया अत्यंत हिंसित स्वरूप है घृणा स्वरूप होने से तद विचार है वैराग्य मत इसलिए ऐसा जब विचार करेगा इस शरीर के जीवों की गति कहाँ कहाँ कैसे घूमता है विचार करने पर वैराग्य अवश्य होना चाहिए अगर विवेकी होगा तो। अविवेकी होगा तो बात अलग है वैराग्य जरूर होगा यही तात्पर्य इसमें इसलिए कहते हैं सबसे पहले क्या होता है यहां से अग्निहोत्रादि कर्म करके स्वर्गलोक पहुंचा हुआ जीव है वहां से आने वाले जीव की स्थिति बताते हैं कैसी स्थिति होती है पुरुषे हवाई इत्यादि मंत्र में है तो कहा पुरुषे हवाई अयम अत्र इदम शब्दार्थम पुरुषे हवाई अयम इत्यादि में इदम शब्द का अर्थ अयम बोला हुआ है यह इदम शब्द का अर्थ करते हैं भाष्य में अयम माने अविद्या काम कर्म अभिमानवान यह अयम का अर्थ मंत्र में जो अयम शब्द है इदम शब्द है उसका अर्थ है अविद्या काम काम कर्म अभिमान अविद्या है तो तब तब लोग आदि प्राप्ति की इच्छा होगी तब अनुकूल कर्म करने वाला मैं इसके लिए कर्म के अधिकारी हूं ऐसा अभिमान करने वाला को अहम शब्द से बोला है अभिमान यही होता है जीव इसी को अहम शब्द से बोला है ये कहा कहते आगे यो मूर्धान विदारीय प्रविश्य स्थित जो आत्मा परमात्मा इस मूर्धा को विदारण करके यहां प्रवेश करके बैठा हुआ है जो आत्मा मूर्धारण विदारी प्रवेश मूर्धा को विदारण करके भेदन करके आप प्रवेश करके बैठा है सो अयम इति उच्चते उसी को यहाँ अयम शब्द से दिया जाता है अयम शब्द का तो वही आत्मा जो आत्मा मूर्धा को विदारण करके प्रविष्ट हुआ है वही आत्मा यहाँ आने के बाद में पागल हो जाता है पहले तो परमात्मा रूप था तो जिस शरीर में प्रविष्ट होते ही जिस शरीर में प्रविष्ट हुआ उन्हें मुंह करने लग गया उसी के साथ तादात्म करके अपने स्वरूप को भूल गया स्थिति यहां अयम शब्द से वही आत्मा लेना है जो मूर्धान विदारीय प्रविश्य स्थित जो तो मूर्धा को विदारण करके इस शरीर में प्रवेश करके बैठा है सो अयम की उचित मंत्र का अयम शब्द से वही आत्मा लिया जाता है ज्ञानी इत्यादि कहा था वह आत्मा जब प्रवेश होने के बाद में अपने को मनुष्य आदि भाव में समझा फिर यज्ञादि कर्म किया उसने लोक प्राप्ति के लिए यज्ञादि कर्म करने के बाद वो स्वर्ग पहुंचा सोम रूप से पैदा हो गया फिर वहां देवताओं ने अपन कर दिया पर्जन्य में फिर पर्जन्य में से वृष्टि रूप से नीचे गिरा फिर पृथ्वी रूप में आ गया हवन हो गया पृथ्वी से अन्य रूप से पैदा हुआ फिर वहां से पुरुष रूप अग्नि में हवन हो गया फिर वहां वीर्य रूप से तैयार होता है फिर स्त्री रूप अग्नि में हवन होगा फिर पुरुष व्यथ पंचम्याम आहुत हाँ। आहुत हुतायाम पुरुष वचस्व भवंती ये जो प्रवाहन जय बलि जैसे के साथ हम ये जानते हो हाँ, तो पांचवी आहुति है उसके हवन करने पर फिर मनुष्य शरीर जैसा था वैसे मिल जाता है पहले मनुष्य था फिर बाद में वही मनुष्य ऐसा होता है पांच बार हवन करने के बाद जानते हो ऐसा पूछा था ये पंजाबी विद्या की चर्चा में पांच बार हवन होता है कई जब यहां से जाएगा आहुति के माध्यम से स्वर्ग पहुंचा हुआ है वहां हवन हो गया सोम बन के पैदा हो गया फिर वहां से हवन होगा पृष्ठि में नीचे आने के लिए फल हो नहीं गया फल समाप्त हो गया हवन नीचे आना है एकाएक गिरता नहीं वहां से पर्जन्य में हवन हो गया पर्जन से वृष्टि रूप से गिरा वृष्टि के साथ आया फिर पृथ्वी में हवन हो गया फिर वहां गृहवादी रूप से पैदा हो गया उस अन्न में आया फिर वहां से पुरुष रूप अग्नि भवन हो गया फिर वहां से बीज रूप में तैयार हो गया फिर स्त्री रूप अग्नि भवन हुआ उसके बाद में फिर शरीर पहले शरीर ही था यज्ञादि करके गया था फिर ये स्थिति से शरीर प्राप्त करता ऐसा पंचाग्नि विद्या की चर्चा में बात है कहा एक यज्ञादि कर्म कृत्या अस्मात लोका धुमातिक्रमेण चंद्र वसंत प्राप्त जो संसारी बना हुआ है अभी यहां आने के बाद वही जीव यज्ञादि कर्म करके इस लोक से इस शरीर से धुमादि क्रम से चंद्रमा को प्राप्त कर स्वर्गलोक प्राप्त करते क्षीण कर्मा जब कर्म क्षीण हो गया उसका उसके पश्चात वृष्टियादिक्रमण एवं लोकम प्राप्त हो फिर वृष्टियादिक्रम से इसी लोक में आया वो प्राप्त अन्नभूत फिर अन्न बन करके अन्न स्वरूप होता हुआ पुरुषावन होता पुरुष रूप अग्नि में हवन हुआ है इत्यादि का टीका से बोलते हैं अथ इमे अथ या इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित उपासते ते धूमाम अभिसंभवंती इत्यादि मंत्र है वहां सामदोग्य में जो लोग ये इमे ग्रामे ये जो जो लोग ये गांव में रहने वाले हैं गृहस्थाश्रमी है भी दत्तमित उपासन इष्टम से पूर्तम से इष्टाप होगा इष्टकर्म पूर्तकर्म दत्त कर्म यही करते हैं केवल आत्मा के ज्ञान के तरफ नहीं चलते हैं यही कर्म करने वाले हैं इष्टकर्म पूर्तकर्म दत्त कर्म तीन कर्म करने वाले हैं इष्टकर्म होता है अग्निहोत्र तपस्तम वेदान चाणुपालन आतिथ्यम वैश्वेव इष्ट विधि विधि स्मृति है अग्निहोत्र कर्म अग्निहोत्र तपस्या कर्म तप माने सब सर्वश्रेष्ठ तप होता है मनस इंद्रियाराम से एकाग्रम परम तप मन इंद्रिय को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप माना गया है अग्निहोत्र तप सत्यम सत्य भाषण करना वेदानाम से अनुपालन वेद का अनुपालन मैंने शाखा का अध्ययन करना यथाशक्ति वेद करना आतिथ्यम अतिथि सेवा करना आए हुए अतिथियों के लिए जो कुछ हो सेवा करना और वैष्णोदेव घर में अन्न पकने के बाद औरों को भी कुछ देना अकेला नहीं काम बलि वैष्णोदेव बोलते हैं आतिथ्यम वैष्णोदेव इष्ट व्यक्ति भी दिया तो इतने मिल करके एक कर्म होता है इष्ट कर्म कुछ वैदिक भी हैं कुछ लौकिक भी हैं दोनों मिले हुए हैं दूसरा एक सामाजिक कर्म भी हमारे लिए लगा हुआ होता है वो होता है पूर्त कर्म बाति कूपतलागारी देवता नाम च अन्न प्रदान आराम पूर्त वित्त विधि तो पूर्त कर्म बनाते हैं माने दूसरे के पीने के उद्देश्य से कुआ खुदा देना छोटे छोटे को बाकी बोलते हैं बड़ा होने पर तालाब बोलते हैं तालाब बोलते हैं कुआ कुआ से थोड़ा बड़ा हो तालाब से थोड़ा छोटा हो बाकी बोलते बाबी आदि बोलते मैंने परोपकार दृष्टि से जो पानी पिए प्राणी मात्र के काम आ जाए उसके लिए ये नहीं वहां टैक्स लगाने बापी उपतलाग आदि देवता इतना नाम क्या देवताओं के मंदिर बना देना ये नहीं अपने वहां पर आय के स्रोत बनाने की दृष्टि से मंदिर न बनाए लोग दर्शन करें हाँ, अपने इष्ट रूप से दर्शन करें इस दृष्टि से करें परोपकार दृष्टि से करें देवता इतना नाम अन्न प्रदान यथाशक्ति अन्नदान करना तो कर सकता हो और आराम जिसमें बैठ करके विश्राम करते हैं धर्मशाला बना आगंतुक ग्रह धर्मशाला बनाना इसको पूर्त कर्म कहते हैं मिलकर इष्ट पूर्त और एक दत्त कर्म होता है शरणागत संतराम भूतानाम चाप्य हिंसन बहिर्वेदी चेतान दत्त वित्तीय दत्त स्फूर्त दत्त कर्म होता है सर्वागत की रक्षा करना कोई भी हो मैं सर्वागत होकर करके आए उसके रक्षा करना उसका जब आतंकवादी भी आता है तो हाथ उठा देता है तो के वाले नहीं मारते उसका आदमी रक्षा करते उसका आगे छानबीन करेंगे अलग होता है तो यही कर्तव्य होगा शरणागत संतान शरणागत बन के आया हो तो उसकी रक्षा करना कर्म है शास्त्रीय कर्म है शरणागत संतान भूताराम चाहते हिंसनम प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना बहिर्वेदी जब दान जब आप यज्ञादि करेंगे तो दान देना ही पड़ेगा वहां तो पंडित लोग आपको आप पंडित लोग ले ही लेंगे आपसे किसी को नहीं तो आपके ऊपर रिपोर्ट कर देंगे वहां तो देना ही है किंतु वेदी माने यज्ञ कर्म एक एक कर्म से बाहर भी चलते फिरते में भी जो कुछ हो थोड़ा बहुत देते गए जो अपने से बने कुछ देना कुछ देने का काम करे देना सीखे ऐसा लोग दो ही काम होता है तुलसी संसार में कर लीजिए दो काम तुलसीदास ने कहा संसार में आए दो काम कर देने को टुकड़ो भरो लेने को हर काम दो काम है देना है अन्न के टुकड़ा दो वस्त्र का टुकड़ा दो कुछ दो ये देने का काम और लेने का लेना भी है नाम भगवान का नाम लो ये लेना है तुलसी से संसार में कर लीजिए दो काम देने को टुकड़ो भलो लेने को हरिनाम कुछ देना है कुछ लेना है ये दत्त कर्म में आ जाते हैं का यही कहा अथ ये इवे ग्रामे इष्टापूर्ति दत्त उपास छांदो परिषद की चर्चा है जो लोग गृहस्थाश्रम में रह करके इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं बाकी आत्मज्ञान की तरफ साधना नहीं करते ऐसे लोग तो ते धूमम अभिसंबंधी माने वो अर्ची को प्राप्त नहीं करेंगे धूम को प्राप्त होंगे ऐसा ये अरण्य तपस्त्रद्धा उपास देते और एवं बंदी वहां से आरंभ होता है जंगल में बैठ करके तपस्या आदि करते हैं वो अर्ची की तरफ से उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और धूम को प्राप्त होते हैं दक्षिणायण मार्ग से जाते हैं ऐसा आया इत्यादि ना पंचाग्नि विद्यायाम अयम अर्थ प्रसिद्ध पंचाग्नि विद्या में यह अर्थ प्रसिद्ध है किस तरह से जीव ऊपर जाता है फिर किस तरह से वापस आता है छांदोग्य में भी है गिरफ्तार में भी है प्रसिद्ध अर्थ है कहा अन्नभूत इत्यादि कहा था अन्नभूत पुरुषार्थ होता है इसका ब्रियादि अन्न संश्लिष्ट अन्न नहीं बना है अन्न में संश्लिष्ट है वो ब्रियादि अन्न के साथ युक्त होकर के आया है वो जीव ऐसा है वो अन्न बनने वाला जीव दूसरा वो वहां एक दो जीव होते हैं एक तो अन्न बना हुआ है जिसके कर्म से और एक उसमें अनुसयी है उसके साथ मिल करके आ रहा है उसको तो आगे शरीर प्राप्ति के लिए आ रहा है वो जीव है अन्नभूत का अर्थ करते हैं ब्रियादि अन्न संश्लिष्ट पुरुषाग्न होता है ब्रियादि अन्न में मिला हुआ था संश्लेष में आया था वो पुरुष रूपी हवन बन गया जब दाल चा, चावल रोटी आदि खाया तो उसके साथ किसी काम में था वो भी आया साथ में पुरुष रूपी पुरुष पुरुषेण भक्षित थे पुरुष के द्वारा खाया हुआ तस्मिन इत्यादि भाषण में कहा था तस्मिन पुरुष है भाई उस पुरुष में पहले गर्भ रूप से रहेगा पुरुष के शरीर में रहेगा वो गर्भ रूप में जैसे मातृ शरीर में रहता है उसे पहले पिता के शरीर में होता हो यही कहा रसाधिक्रमण आदि का तो रेतु गर्भवती कहा उस पुरुष शरीर में रस आदि सप्त धातु के क्रम से रेत रूप में गर्भ रूप में है वो ये बताया शुक्रा कहा रेत पुरुष रेत तेवल ठीक आदमी बोलते हैं ये न पुरुषेण भक्षिता तस्वीर कौन पुरुष जिसने खाया होगा अन्ना जिस जिस दाने में वो आया होगा जीव तो हमसे ही जीव आया होगा जिस पुरुष के पेट में पड़ा उस पुरुष पुरुषे हवाई अयम संसारी आदिता प्रथमता तो आदिता का अर्थ प्रथम पहले गर्भ यहां पुरुष के शरीर में गर्भ होता है उसका पुरुष हवाई अयम हाँ, संसारी जो संसारी जीव है हाँ, आदिता बने प्रथम था स्त्री गर्भ प्रवेशात पूर्व और स्त्री गर्भ में प्रवेश हुआ नहीं पहले पुरुष के पेट में गर्भ में है वो ये कहा गर्भो भवती यदि प्रथम अन्वय एक अन्वय ऐसा कर देना कहा तीन नंबर की टिप्पणी जाते हैं एक वाक्य तो असंभवात वाक्य भेजा भाषण विदित काम हो मन अत्र अन्वय द्वयम या एक वाक्य नहीं हो पा रहा इसलिए दो वाक्य बनाने के लिए दो दो वाक्य बनाना चाहते हैं अन्वय दो प्रकार के अन्वय करते हैं एक बताना चाहते हैं ठीक है हमें कहते हैं पुरुषे स्त्रियाम गर्भो गर्भ न दृश्यते स्त्री में जैसे गर्भ दिखाई पड़ता है किंतु तो पुरुष में तो गर्भ नहीं दिखाई पड़ता कैसे आदि तक पुरुष पुरुषे गर्भ बहुत बोल दिया तो शंका आ गई पुरुषे स्त्रियाम गर्भ दृश्य जैसे स्त्री में गर्भ दिखाई पड़ता है पुरुष में नहीं दिखाई पड़ता ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं भक्षित से अन्य से रसादिक्रमण हेतु रूपेण परिणामे सती तत्संश्लेषा भी तथा रेत रूपेण संश्लेषण रेतो भावे सती तेरह रूपेण पुरुष शरीर में विद्यमान तस्य सगर्भ ये गर्भ रूप में पाया जाता है उसको जैसे पुरुष के द्वारा भक्षित अन्न पुरुष के द्वारा खाया गया जो अन्न है शादी क्रम से जो सप्त धातु में सातवां धातु में पहुंच गया है वो रेतु रूपेण परिणाम से भी रेत रूप से परिणत होने पर तस्वीर संश्लिष्ट उस रेत में संश्लिष्ट जो जीव है वहां पहुंचा हुआ जीव है तथा रेत संश्लेषण रेतो भावे सभी वो भी रेत रूप का ही है वेद के साथ एकता प्राप्त करके बैठा है वो इसलिए तीर्ण रूपेण मैंने रेत रूपेण हाँ, पुरुष से शरीर विद्यमान रेत रूप से आए वीर रूप से पुरुष के शरीर में आए वो जी तस्य सगर्भ इत्यर्थ उस पुरुष का वो गर्व माना जाएगा उस जीव का वो गर्व है वो इसलिए रसादि इत्यादि कहा ठीक है रसादि इति आदि शब्द ना शोणित मांस आदि गृह देखा रसादि से आदि शब्द से शोणित मांस शोणित मान रक्त होता है स्त्री शरीर का सोनित आदि बनना है मांस आदि लिया जाएगा रस के बाद सोनित बाद रखता है वो रसाधिक्रमण यदि तक पुरुष रहता है रसाधिक्रम से जो पुरुष में रेत बना हुआ है तेन रूपेण गर्भ होते उस रेत दृष्टि गर्भ है पुरुष शरीर यदि आह यदि पश्चात अन्वय कार्य पहले ऐसा अन्वय कार्य होगा आगे टीका में जाते हैं न तो तस् गर्भत्व अप्रसिद्धम इतिहास है यह है कि वो जो पुरुष के शरीर में रेत रूप से बैठा हुआ है जीव तो उसमें गर्भत्व तो प्रसिद्ध है कोई गर्व नहीं बोलते उसको वो तो स्त्री शरीर में ही गर्व कहते हैं पुरुष शरीर में कैसे गर्व बोल दिया ये शंका आगे न तस्य गर्भत्व प्रसिद्ध उस जीव को गर्भत्व प्रसिद्ध नहीं है शंका कर कहते हैं स्त्रिया ही तस्य पुरुष अमृतत्व उत्तरीय जैसे गर्भ स्त्री धारण करती है इसी प्रकार उसने भी धारण किया पुरुष ने धारण कर रखा उसको इसलिए गर्व होता क्रिया वजह जैसे स्त्री के शरीर होता है उसी प्रकार पुरुष पृथकवाद पुरुष के द्वारा धारित है वो पोषित है गौणिया प्रीत्या गर्भत्म गौण रूप से गर्भ कहा पुरुष शरीर में गौण रूप से गर्भ बोला उसको यदि भक्तों तदेतत इत्यादि विभक्ति यहां से तदेत से लेकर के विभक्ति तक का वाक्य यहाँ तक है कहा तदेत सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूतम आत्मन एवं आत्मान विभक्ति यहां तक वाक्य ऐसा है ये बताना ये व्याख्या करते हैं तत्व एतत भाषण का तत्त एतत रेत तदेतत है ना तत्त एतत रेत वो जो पुरुष शरीर में पड़ा हुआ रेत है रेत रूप से बैठा हुआ अन्नमय से पिंड से जो अन्नमय पिंड है ऐसे जो अन्नमय पिंड है सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो संपूर्ण अवयव का सार है वो रेत पूरे शरीर का अंग है अन्न का बना हुआ है वो उसका सार है रसादि लक्षण जो रसादि क्रम से पैदा हुआ तेज सार रूपण शरीर से संभव पूरे शरीर का सार रूप में पैदा हुआ है परिनिष्पन्नम तैयार हुआ तत्पुरुष से आत्मभूतत्व आत्मा वो जो रेत है पुरुष के साथ एकता होने के कारण उसको आत्मा बोल दिया स्वरूप भूतत्व आत्मभूतत्व स्वरूप भूतत्व उसके स्वरूप होने से भिन्न नहीं दिखता इसलिए आत्मा बोल दिया तदेतर आत्मा आत्मरूपत्व आत्मा टिप्पणी में बोला आत्मभूतत्वाद आत्मान रेतु रूपेगा टीका है आत्मभूतत्वाद आत्मा आत्मस्वरूप होने से अपने को ही पालन पोषण करता है अर्थ करना चाहते हैं ये कहते भाष्य में आत्मभूतत्वाद आत्मा तम आत्मान रेतो रूपेण गर्भीभूतम जो अपना ही स्वरूप है शरीर उसको रेत रूप से गर्भीभूत गर्भ बना हुआ है आत्मनिव स्व बस स्वशरीर आत्मा गर्भ अपने आत्मा को अपने शरीर में आत्मा माने शरीर में शरीर में ही धारण करता है पुरुष स्वयं पुरुष जो होगा वही धारण करेगा अपने को ही धारण करेगा अपने शरीर में धारण करेगा ये कहा तद रेत हो वो रेत है पुरुष शरीर में है उदय वो रेत यदा यस्मिन काले भार्य ऋतुमती तस्याम व्यवसाय स्त्रियाम संचित उपगछन जब भार्या ऋतुकाल में पहुंची होगी उस स्थिति में उस व्यवसाय रूपी अग्नि में हवन करने पर क्या होगा पुरुष रूप से आएगा गर्भ वहां गर्भ रूपे आएगा अतः तद एहत एतद रेत आत्मनो गर्भभूतम जनहित पिता उस काल में पिता एक पैदा करेगा उस रेत रूप को अपने गर्भ में था उसको बाहर पैदा करेगा तद अश्य पुरुष से थाना दीर्घ रेत से काले रेत रूप अश्य संसार प्रथम जन्म प्रथमा अवस्था अभिव्यक्ति कहा उस पुरुष का जहां बैठा हुआ था उसका निकलने के कारण एक जन्म कहा गया किस काल में रेतसिक काल रेतो रूपेणा रेत रूप से अश्य बाहर निकला तो अश्य संसार का प्रथम जन्म इस संसारी जीव का प्रथम जन्म माना जाता है माने प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति है कहा टिप्पणियां चार से लेकर के सात तक सर्व का अश्य पूर्वोत्तर उभयान्वयी इतिहास है अश्य पद जो है ना वहां तद अश्य पुरुष में तद अश्य तद यहाँ इसका वो जो रेत अथवा पुरुष अश्य पुरुष से इधर भी होगा दोनों तरफ अनु पुरुष से पाद में कहा पुरुष से भी पितृशरीर स्थान रेत स्थानात इत्यर्थ यहाँ पुरुष से स्थानात का अर्थ किया पितृशरीर से निकला हुआ है स्थानात के ऊपर होना था छेम का अश्य के ऊपर में छेम कहते हैं प्रथम जन्म इतना अन्वय प्रदर्शन पुनः बताते या अश्य पर पहले भी आया था तदस्य फिर अश्य आया यहाँ क्या है दोबारा उसको अन्वय करने के लिए दोबारा लिया गया ये बता प्रथमा अवस्था अभिव्यक्ति में सात कृतियों का पितृशरीर रूप प्रथमा आवश्यक है अवस्थित अभिव्यक्ति दिया गया पितृशरीर रूप प्रथम जो स्थान था उसका रहने का स्थान उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है यहाँ तदे उत्तम पुरस्कार इत्यादि भाषण का पहले भी कहा है आरण्यक में बताएगा बात असौ आत्मा अमुम आत्मा ऐसा कहा वह आत्मा इस आत्मा को ऐसा आया टीकाकार पूरा करेंगे श्रुति को पूरा करेंगे तो कहते हैं उपग्रह टीकाकार पूरा करेंगे टीका से देखें रसादि धातु समुदाय रूपत्वाद शरीर से तेषा तदवगत्व सर्वधातुत्व शरीर से सार रूपत्व कहते हैं देखो रसादि धातु का समुदाय स्वरूप होने से शरीर क्या है ये सप्त धातु का समुदाय है सप्त धातु निकालेंगे तो इसमें कोई शरीर नाम की चीज नहीं मिलेगा जो माता पिता के द्वारा खाया पिया हुआ अन्न जल है उसके जो परिणाम माता पिता के शरीर में होकर के सप्तम धातु दोनों के शरीर में था उससे ये बना हुआ है इसलिए अन्नवय कोष कहा इसको अन्न से बना है सीधा अन्न से तो पैदा होता नहीं है कि प्रक्रिया है माता पिता के द्वारा भूखता अन्न का परिणाम है ये सभी शरीर ऐसे होते हैं इसलिए अन्नवय कोष बोला इसको अन्न का विकार बोला इसको ऐसा होता है यही बोलते हैं हाँ, रसाद धातु समुदाय रूप ये सात धातु निकालेंगे तो शरीर नाम को कोई चीज मिलेगा ही नहीं क्यों अवयव को निकाल देंगे तो अवयव भी समाप्त हो जाएगा धागा निकाल देंगे यदि तो कपड़ा नाम का कोई चीज नहीं रहेगा मिट्टी निकाल देंगे तो घट नाम की वस्तु नहीं रहेगा अवैध के समूह को ही अवैधी बोला जाता है ये शरीर शरीर बोला गया है है सात धातु है इसमें रक्त आदि सप्त धातु है जिससे बना हुआ है एक अर्थ है रसादि धातु समुदाय रूपत्वाद शरीर से कोई भी शरीर हो ये रसादि सात धातु का समुदाय पुण्य है तेसाम तद अवयुत्तम इसलिए ये जो सप्त धातु जो होते हैं ये शरीर का अवयव होते हैं जैसा सप्त धातु नाम तद अवय तो शरीर से अवयव शरीर का अवयव है चरम धातु पर शरीर से सारूप और चरम धातु होने के कारण ये सारूप भी है कौन अंतिम धातु शरीर धातुत्वात चार के जीवन कहा शरीर से सार शरीर संबंधी सारत्व रेत से शरीर में जो अंतिम सार होता है रेतु तो रजोवीर पुरुष शरीर में रेत है स्त्री शरीर में रज है कोई सार है ये आदि का अर्थ करते हैं आत्माभिमान विषय शरीर भूतत्व आत्मा के अभिमान का विषय शरीर है तो शरीर शरीर रूप में रेत बैठा हुआ है इसलिए आत्मान गर्वीभूतम विभक्ति उस आत्मा को गर्वीभूत को अपने गर्व में पड़ा हुआ रेत का भरण पोषण करता है भक्षमाण अनुसंज्ञ वाक्यम पुराण्यम विभक्ति जो आगे आएगा उसके साथ में इसका अन्वय कर देना होगा उत्तम अर्थम श्रुति अक्षरारूढ़ करती श्रुति में जो कहा हुआ है उसको बुद्धि में आरूढ़ करते हैं आत्मनि इत्यादि शब्द कहा था आत्मनि ये वस्तु शरीर है आत्मान निवर्ती अपने शरीर में ही अपने को ही धारण करता है वो रेत भी अपने से भिन्न नहीं है शरीर भी अपने से भिन्न नहीं उसका तादात्म है अपने को ही अपने शरीर में ही धारण करता है अतः ठीक है कहा अतः आत्मान न प्रवृत्ति क्योंकि आत्मान को प्रवृत्ति दोष अब नहीं मानी जाएगी क्यों एक बार आत्मान का अर्थ कर दिया था रेतु रूपेण गर्भीभूतम और आत्मनि एवक से दूसरा हो गया हाँ फिर आत्मान है आत्मनि एवं सोच शरीर आत्मान दो आत्मान आए या कोई दोष नहीं आया एवं पितृ शरीर रूपम आवसतम तत्र रेतो रूपेण अवस्थान जब उत्तर सबसे पहले शिव जीव का पितृ शरीर रूप में इसका स्थान होता है माने घूम करके आता है पहले अब शरीर प्राप्ति के लिए तो पहले पिता के शरीर में वीर रूप में रहेगा वो स्थिति में पितृ शरीर रूप में आवश्यक उद्वास स्थान हो जाता है उसका सबसे पहले तत्र रेतु में अवस्थान तो होता है पितृ शरीर में किस रूप से रहता है रेत रूप से मातृदेह रूपावस्थम तत्र गर्भ में अवस्थान से दर्शित उसके पश्चात दूसरी कहां होगा उसका निवास मातृ शरीर में होगा मातृदेह रूप आवश्यक मातृ शरीर रूप आवश्यक होगा तत्र उस मातृ शरीर में गर्भ रूपेण अवस्था गर्भ रूप से स्थित रहेगा वो ये दिखाना सब तो ये दिखाने के लिए पितृ निर्गम रूपों दर्शन पितृ शरीर से निकलना रूप दिखाते हैं वो वीर रूप से निकलेगा वहां ये दिखाते हैं तद्रेत इत्यादि तद्रेत इत्यादि कहा तद्रेतो यदा यस्मिन काले भार्य ऋतुवती तस्याम व्यवसाय स्त्रियाम सिंचती उपगछन इत्यादि कहा था यदा इति उत्तम में इसलिए यदा माने किस काल में है किस काल में वो स्त्री शरीर में पहुंचता है तब कहा भार्य ऋतुमती भार्य जब ऋतु काल की होगी उस काल में उसके साथ शरीर में पहुंच जाता है पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्नि विद्या में स्त्री को भी अग्नि अग्नि कहा है आहुति डालने का स्थान है इसलिए अग्नि कहा उसको अग्नि पंचाग्नि विद्या व्यवसाय भाव गौतम अग्नि कहा है और पांच अग्नि का नाम दिया असो भाव लोको गौतम अग्नि पर्जन्य भाव गौतम अग्नि अयम लोको भाव गौतम अग्नि पुरुषो भाव गौतम अग्नि योषा भाव गौतमाग्नि पांच अग्नि ऐसा बताया तो योषा भाव गौतम अग्नि इत्यादि नाम अयम अर्थो दर्शित ही दिखाया है दर्शित इति वक्तुम योषाग्नो उत्तम योषादि ने कहा अवगछन इत्यादि मैंने भारिया संगठन इत्यादि अर्थ करना कहा अश्य हेतु रूपेण स्थानात निर्गमनम इति अन्वय इसका रेत रूप स्थान से जहां बैठा हुआ था पृथ्वी शरीर वहां से निर्गम हो जाता है वो पहला जन्म है उसका रेतो भार्यायाम सिंचती इत्यत्र वाक्यांतरम संवादती रेत का भार्या में सिंचन करता है कहा इसका अन्य वाक्य संवाद करते हैं तदे तत् उत्तम पुरस्कार पहले भी इस बात को बताया है आरण्यक में बताया है अभी तो यहाँ पर उपनिषद में बताया जा रहा है पहले आरण्यक चला उसने भी कहा जाता है तो क्या कहा आरण्यक में ये बताते हैं टीका में असौ आत्मा पुरुषो अमुम आत्मान स्वयं रेतो रूपम आत्मान अस्मय आत्मने भारी आरोपाय प्रचति आत्मा आत्मने आत्मान प्रयत्ति ऐसा दिया तीनों आत्मा आत्मा माने देने वाला आत्मा जिसमें जिसके लिए दिया जाए वो आत्मा जो दिया जाए वो भी आत्मा होता है माने एक आत्मा से तो पुरुष को दिया दूसरे आत्मा से वीर्य को दिया तीसरे आत्मा को स्त्री को दिया यही है असौ आत्मा वो जो पुरुष है पुरुष है अमुम आत्मान स्वयं सेतु रूप रेतु रूपम आत्मान तो जो रेत रूप आत्मा है उसको अपने आत्मा को और अस्वयी आत्मा ने भारिया रूप है आत्मा जो भारिया रूप आत्मा है उसके लिए प्रय हाँ। स्वयं स्वयं को स्वयं के लिए देता है ऐसा आया है आगे मंत्र है

सामश्चेतम आत्मान अत्रगतम भावती तत्क्रिया आत्मभुजम रचितो शुष्क जो रेत है पुरुष के द्वारा सिक्त रेत स्त्रिया आत्मभुज रचित स्त्री के साथ आत्मभाव होकर के एक हो जाता है तादात में होकर रहेगा स्त्री के शरीर से भिन्न रूप में नहीं दिखता आत्मभुज रचित ये क्या प्रत्यांतर भूजा बनाया हुआ है भूगो भाव है क्या उदात से भाव में क्या प्रत्यय होता है सुगुणादि नहीं हुआ आत्मभोजन गच्छति आत्मभाव को प्राप्त होता है स्त्री से भिन्न नहीं प्राप्त होगा एकत्व रूप में प्राप्त होता है यथा सोम अंगम जैसे स्त्री का अपना अंग होता है इसी प्रकार वो भी अपने अंग के समान है वो उसी प्रकार तस्मात ये नाम नायन स्त्री इसलिए क्या होगा अपने स्वयं स्त्री के शरीर से अभिन्न होने के कारण उस स्त्री को ये कष्ट नहीं पहुंचा पूरे तस्मात ये स्त्री को प्रियम न हिनस्ती कष्ट नहीं पहुंचाता सा अश्य एतम आत्मान अत्रगतम भावेगी वो सा माने वो स्त्री भी अश्य एतम आत्मान इस पुरुष का जो आत्मा है वीर रूप से आया हुआ है उसको अत्रगतम अपने शरीर में प्रविष्ट हुआ को भावेगी मैंने बाध्य उसकी पालन पोषण करती है रक्षा करते खान पान के द्वारा रक्षा करती है यह है भावयती का अर्थ बढ़ेगी है माने भेद बढ़ेगा उसमें गर्भ रूप से बढ़ेगा वो बढ़ाएगी खान पान के द्वारा धातु नाम ने कहा एक दो की टिप्पणी का तत् माने होगा तत् शब्द क्या है जीव संश्रिष्टम रहता है जिसमें जीव मिला हुआ है प्रविष्ट है ऐसा जो रहता है पूरे स्त्री या आत्मभूमि थी उस स्त्री के शरीर में भिन्नता भिन्नत्व नहीं जाता अभिन्नत्व नहीं जाता एक आत्मभूयम जो नमित शरीर भाव शरीर भाव को प्राप्त हो जाता है स्त्री के साथ एक हो जाता है ऐसा टीका में कहते हैं मानो स्त्री शरीर प्रविष्टम पुरुष से रेत स्त्री उपद्रवकारी शरीर लग्न पावणवत इति आशंका उत्तम तत्क्रिया इत्यादि तदेतर व्यास शंका है कि स्त्री शरीर में जब रेत प्रविष्ट होगा प्रविष्टम पुरुष से रेप जो पुरुष का रेप स्त्री शरीर में प्रविष्ट हो गया उसके स्त्रिया पत्रकार भी स्त्री के लिए तो ही होगा वो ऐसे शरीर में लगना बाण तो जैसे शरीर में बाण छुएगा तो कष्ट होता है तो जब रेप शरीर में प्रविष्ट हो गया स्त्री शरीर में उसको कष्ट पहुंचाएगा ये शंका होगी जैसे शरीर में बाण चुभता है कांटा चुभता है कष्ट होता है इसी प्रकार वो रेत भी कष्ट दे शंका करे कहा नहीं तस्त्रिया आत्मभूजम इत्यादि तो शरीर से अभिन्न रूप से जाता है कांटे आदि जाते हैं तो भिन्नत्व में जाता है जैसे कष्ट देता है वो तो अभिन्न रूप में होता है ठीक है तद रेतो इत्यादि राशि में तद रेत तद माने रेत ये श्याम स्त्रियाम सिक्तम जिस स्त्री में पुरुष के द्वारा सिक्त हुआ है सिंचन हुआ है वो रेत वह रेत तस्या आत्मभोजन उस स्त्री के शरीर भाव को है अभिन्नता को प्राप्त होकर के बैठा है आत्मभोजन आत्मा अव्यतिरेकता स्त्री शरीर से भिन्न नहीं बना हुआ है अभिन्नत्व प्राप्त होता है अब यथा पितुर जैसे पितृ शरीर में अभिन्नत्व ने बैठा हुआ था और मातृ शरीर में अभिन्नत्व ने बैठेगा यथा पितुर का एवं गच्छति जैसे पिता के शरीर में था वो अभिन्नत्व न था उसी प्रकार से मातृ शरीर में अभिन्नत्व है वो गच्छति प्राप्त मुझे प्राप्त होता है यथा स्वम अंगम स्तन आदि तथा तत्व जैसे स्त्री को अपने स्तन आदि से कष्ट नहीं होता क्यों अपना ही शरीर है वो अपना अंग है इसी प्रकार उस गर्भ से भी कष्ट नहीं होता आठ नौ की टिप्पणी आठ में कहा स्त्री शरीर अभेदात्मा व्यतिरेक अर्थ अभेदा स्त्री शरीर से अभेद है वो इसलिए स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाता दृष्टांत विद्या जैसे सौमंगम स्तनादि स्तनादि कहा था सादृश्याय वर्धनशीलम एवं दृष्टांत गर्भ वहां पड़ता है स्त्री शरीर में इसलिए सादृश्य दिखाने के लिए स्तन का दृष्टांत दिया स्तन भी बढ़ता है बचपन में स्तन नहीं है बाद में जाके बढ़ जाता है इसलिए गर्व को भी बढ़ने वाला है स्तन भी बढ़ने वाला है इसलिए वही दृष्टान दिया भाषा वर्धनशील होने से कहा तो कष्ट नहीं पहुंचा तस्माद है तो नाम मातरम सगर्भ नहीं नस्ती पेटिकाधिपत का इस कारण से आत्मभूय है एकत्व को प्राप्त हुआ है इसी कारण से नाम मातरम इस माँ को माता को सगर्भ जो गर्भ है न ही नष्टी कष्ट नहीं पहुंचाता पीटक आदि पर जैसे घाव आदि को पीटक बोलते हैं घाव आदि हो जाए कष्ट देता है ऐसा नहीं करता पितृ की दृष्टांत ग्यारह की टिप्पणी नहीं दस की टिप्पणी दे तो तस्मा मातृ शरीर का मातृ शरीर से अभिन्न होने के कारण मातृ शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाता वो जैसे पीटक आदि होते हैं कष्ट पहुंचाते हैं गाँव थोड़े उनसे आ जाएंगे कष्ट पहुंचाते हैं ऐसा वो गर्भ माता को कष्ट नहीं पहुंचाता जो शरीर से अभिन्न है गर्भ भिन्न नहीं होता अभिन्न होकर बैठा हुआ होता है ठीक है कहा पीठ का व्रण रूप ग्रंथी विशेष कहा पीठ का शब्द अर्थात घाव रूपी जो गांठ है ग्रंथी है तद विशेष को पीठ का बोलते हैं ये कहा ग्यारह की टिप्पणी ब्रा इत्यादि स्फोटा इत्यादि स्फोट बोलते हैं उसी को घाव जो होता है ग्रहण कहते हैं स्फोट बोलते हैं विशेष टीका लगा तद्वत नहीं नहीं तो जैसे घाव होने पर शरीर को कष्ट देता है किंतु वो गर्भ माता को कष्ट देता है घाव भिन्नत्व में आता है अपने शरीर से भिन्न रूप से आता है इसे कष्ट देता है किंतु गर्भ जो होगा माता के शरीर से अभिन्न होकर बैठा हुआ है इसे कष्ट नहीं पहुंचा तद्वत नहीं नस्ती व्यतिरिक दृष्टान्त ये व्यतिरिक दृष्टान्त है पीठिकाधिपत व्यतिरिक दृष्टान्त रहता है अक्षरार्थम उक्ता पिंडितार्थम है ये तो शब्दावली का एक एक अर्थ हो गया और संपिंडित अर्थ सामूहिक अर्थ क्या आएगा यस्मात इत्यादि कहा था यस्मात तनादि स्वांगवत आत्मभूय अंगतम जिससे कि वो तनादि शरीर के जो स्तन आदि होते हैं वो अपने शरीर अपने शरीर से अभिन्न है उनके इसी प्रकार वो गर्भ भी उसी प्रकार पड़ा हुआ है शरीर तस्मात न ही नस्ती न बाधते इसलिए वो माता को कष्ट नहीं पहुंचाता सा है जो गर्भ वाली को अंतर्वत भीतर जिसका है उसको अंतर्वतनी बोलते हैं स्त्री को अंतर्वतनी कहा जाता है अंतर्वत पतिवतो लुक ऐसा लुक करता है अंतर्वत शब्द से लुक होता है पतिवत शब्द से भी लुक होता है पतिवत्नी अंतर्वत्नी ऐसा शब्द होता है पति वाली को पतिवत्नी बोलते हैं और अंतर गर्भ वाली को गर्भिणी को कहते हैं अंतर्वतनी एक आशा अंतर्वतनी जो गर्भ धारण किया है जिस स्त्री ने ऐसा जो स्त्री है वो सा अंतर्गत में एतम अश्य भरपूर आत्मान एतम ये जो रेत रूप में आया हुआ गर्भ है एतम गर्भम इस गर्भ को एतम आगे गर्भम होगा इस गर्भ को एतम गर्भम अस्य भरपूर आत्मान उस अपने पति का आत्मा है शरीर है पति का ही शरीर है आया हुआ जैसे कि अंग के अवय आया है अश्य भरपूर आत्मान इस भर्ता का आत्मा मैंने मतलब शरीर है उस गर्भ आत्मय उदरे गतम अपने शरीर में प्रविष्ट हुआ जान करके पति का शरीर मेरे शरीर में आ गया ऐसा समझ करके प्रविष्टों को द्वा भावयती परिपाल बर्दयती तो उसकी रक्षा करती है उस गर्भ की कैसे रक्षा करती है तो कहा गर्भ विरुद्ध असनादि परिहारम अनुकूल असनादि उपयोग हम सब ये करती हुई रक्षा करती है गर्भ के लिए विरुद्ध भोजन पानी आदि नहीं करती और गर्भ के अनुकूल जो भोजन आदि है वो करती है इसके द्वारा रक्षा करती है आठ नौ की टिप्पणी भाष्य की अश्य एतम गर्भम ये प्रसिद्ध गर्भ है एतम का गर्भम ये गर्भ प्रसिद्ध गर्भ नौ ने कहा पुत्रत्व आपन्न भक्ति स्वरूपम पुत्रत्व भाव को प्राप्त हुआ जो पति है अभी पुत्रत्व रूप में आए जो तो पति के शरीर आया हुआ है उस रूप में उसकी रक्षा करती है काम ठीक है पीटका ब्रह्म बिंदु के अंत विशेषा तद्वत नहीं कि देश के दृष्टान्त कहा ये बोलते हैं इस बात अत्र प्रसंगात स्त्रिया सावधान गर्भरक्षण कर्तव्य यहाँ प्रसंग से यह आएगा यहाँ मुख्य प्रसंग तो ये मुख्य तो ये है वैराग्य दिखाने के लिए ये जीव को इस तरह से किस तरह से गुजरना पड़ रहा है अगर सोचेगा कहाँ कहाँ से मैं चल रहा हूं हमारी ही कहानी है हम कहां कहां से आए हैं ये नहीं कि कोई अन्य जीव की बात है तो इसको वैराग्य आ जाए इसके लिए मुख्य तो वह है क्योंकि तो प्रसंग दूसरा भी है प्रासंगिक तत्व भी आता है दूसरा प्रसंग से क्या आएगा स्त्रिया सावधान में गर्भरक्षण कर्तव्य ये विधान भी है स्त्री को यह करना चाहिए सावधान पूर्वक गर्भ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ ढूंढ के आया है मानव शरीर प्राप्त करने के लिए आया हुआ है गर्भ की रक्षा करना स्त्री का कर्तव्य है भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए तो स्त्री प्रसंग से आएगा प्रसंगा स्त्री सावधान गर्भरक्षण कर्तव्य सावधान पूर्वक सावधानी पूर्वक गर्भ की रक्षा करना चाहिए स्त्री को ये प्रसंगता ये बात सिद्ध हो जाती है मुख्य तो यहाँ वैराग्य दिखाना है तो तात्पर्य उधर है प्रसंग से ये भी है दस ग्यारह की टिप्पणी करते हैं सावधान अनुसार एकाग्र होकर के गर्भ की रक्षा करना चाहिए विदत्ते विधान किया जाता है वाक्य के द्वारा ये कहा तब कहते हैं देखो बृहदारण्य उपनिषद के जो ष्ठ अध्याय में <clears throat> जब मंथन यज्ञ शुरू होता है एक मंथन क्रिया शुरू करते हैं मंथ क्रिया मंथ क्रिया होती अंतिम में आता है उसमें कहा हुआ है अपक्रामंत तो में ऐसा करके आतंक किया मंत्र तो नहीं आएगा भाष्य की पंक्ति में लिखा है अपक्रामंत तो गर्भिणी गर्भिणी स्त्री हट जाए यहां से आगे ऐसा आया हुआ तो ये अगर गर्भ धारण करना या विशेष रूप धारण करना है तो ये सही है कि वो सही है यह प्रश्न उठता है टिप्पणी का देखते हैं विदत्ते के लिए टिप्पणी अपक्रामंत गर्भिण यदि उक्त सांप्रदायिक वृद्धारण में मंथ क्रिया मंथ क्रिया जो ष्ठ अध्याय में है उसमें आया है अपक्रामंत गर्भिण गर्भिणी यहां से हट जाए ऐसा आया गर्भ स्त्री हट जाए उसके बाद वो मंथ क्रिया की बातें सुनाएंगे ऐसा आया अपक्रामंग गर्भिणी युक्त वृद्धा में ऐसा कहा हुआ है सांप्रदायिक तो यदि वास्तविक संप्रदाय परंपरा का है वो तो इदम असंगत फिर यह असंगत होगा स्त्रिया सावधान गर्भ रक्षणीय जो कहा गर्भधार गर्भ की रक्षा करना चाहिए जो बोला जा रहा है यहाँ ये गलत हो जाएगा अच्छा यदि वो सांप्रदायिक है तो परंपरागत आया हो अपक्रामंत गर्भिणी जो वाक्य आया तो यह तो क्या होगा यह असंगत हो जाएगा और अश्य तथा तो ये सांप्रादिक ये है अभी यहां जो बताया गया जो यहां बताया गया कि प्रसंगा स्त्रिया सावधान में गर्भरक्षण कर्तव्य ये जो ये ये भी एक सांप्रदायिक है परंपरागत है तो, तो तत्प्रक्षिप्तम वो जो अपरामंत गर्भ में प्रक्षिप्त पाठ है मानना पड़ेगा दो में से एक तो प्रक्षिप्त ही होगा अगर वो सांप्रदायिक है तो ये घटेगा नहीं असंगत हो जाएगा और ये सांप्राय ये है तो वो असंगत हो जाएगा उसको प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा ये टिप्पणी का है क्यों वृद्धा तो ने अपक्रांत गर्भिणी अगर बोला है और यहां पर गर्भिणी के बारे में बोलते हैं कि गर्भ की रक्षा करनी चाहिए उसको बोल रहे हैं इसका मतलब या तो मोश में प्रक्षिप्त है या ये असंगत है दो में से एक तो गड़बड़ है बात ऐसा कहा टिप्पणी का सा इत्यादि कहा था सा अंतर्वत्नी वो जो गर्भ वाली है ये अश्य अस्य का आत्मान का ही शरीर है वो अपने पति का ही शरीर है उसी शरीर रूप में था वो एक तत्व होकर बैठा था उसी के सारे अवैध निकल के आया है इत्यादि का टीका में भावयती का अर्थ लट लगा दिखता है किंतु यहाँ भावयत विदिर्लिंग समझना उसको रक्षा करे उस गर्भ की रक्षा करे अपने शरीर में प्रविष्ट पति के शरीर की रक्षा करे काम पान आदि के द्वारा यह अर्थ है भावयती लत है लिंग अर्थ नहीं कहते टीका का भावयती मैंने भावयेत कहा पालन उपाय महा कैसे रक्षा कर सकती है वो तो गर्भ तब कहा गर्भ वृद्ध असनादि परिहारम अनुकूल असनादि उपयोग चतुर्वती ऐसा करती हुई गर्भ के लिए वृद्ध भोजन पानी न करे न करती हुई और गर्भ के लिए अनुकूल भोजन पानी करती हुई यही रक्षा करनी उसकी ये कहा आगे मंत्र है

एवं ही मे लोक तदस्यतिम जन्म सा भावयित्री भावयितव्या भवती तम स्त्रीगर्भम विभक्ति सो अग्रेव कुमारम जन्मनो अग्रे अभिभावयती सयत कुमारम जन्मनो अग्रे अभिभावयती आत्मा तद्भावयति लोकाना लोकानां सन्तत्या एवं मे लोक तदस्य द्वितीय जन्म सा भावयित्री वो जो गर्भ की रक्षा करने वाली स्त्री है जिसके पेट में गर्भ है वो स्त्री भावयितव्या भवती वो पति के द्वारा रक्षित रक्षा के योग्य होगी उसकी लालन पालन करना पति का कर्तव्य होगा पति के द्वारा रक्षितव्य होगी कि वो काम नहीं कर सकती है उस काल में उसका पति का कर्तव्य होगा सा भावयित्री वो जो गर्भधारण की हुई स्त्री है वह भावितव्य तव्य होती पति के द्वारा रक्षा के योग्य होगी तम स्त्री गर्भम विभरती वो स्त्री क्या करे तम गर्भम विभरती धीरे धीरे गर्भ को वहां बढ़ाती है वो स्त्री गर्भ बढ़ता रहेगा स्त्री के पेट में बढ़ता रहेगा और बढ़ाएगी सो अग्रे एवं कुमार जन्मनो कब तक बढ़ाती क्या अग्रे एवं कुमार जन्मनो अग्रे एवं यह अग्रे का पूर्व साथ हमेशा पहले कुमार जन्म के पहले पहले होगा ये कहा अग्रे एवं ये तो टिप्पणी दिया है पहले वाले अग्रे में चाहिए सो अग्रे के ऊपर चाहिए अग्रे माने प्रसव काल अभिवत वृक्ष है प्रसव काल के अव्यय पूर्व क्षण में अर्थ अपने अव्यय काल प्रसव काल के पूर्व क्षण की बात है उस काल में और अग्रे अभिभावित और प्रसव के अनंतर आगे उत्तर काल में प्रसव काल के पहले तक तो गर्भ बढ़ाती रहेगी स्त्री और प्रसव काल के अनंतर पिता उसका संस्कार करेगा उस गर्भ का स अग्रे अभिभावित कहा उसी गर्भ की क्या करता है बाहर जब पैदा होगा तो जातकर्मादि संस्कार करेगा करेगा पिता स एक कुमारो कुमारम जन्मनो अग्रे भाव है कि उस कुमार को जो पैदा हुआ बालक को जन्म के आगे जो संस्कार करता है जात जी संस्कार करता है वो पिता स पिता वह आत्मा ने वक्त है अपने ही संस्कार करता है क्यों स्वयं तो स्त्री के माध्यम से पुत्र बन के पैदा हुआ है स्वयं को पुत्र बना हुआ है वो ऐसा है आत्मा ने वो तदभाव है कि वो अपने ही संस्कार करता है पुत्र पुत्र रूप से भाव है ऐसा हम लोकानम संत ये लोक परंपरा चलती रहे इसके लिए इस तरह से संतत्य ही ऊपर में चाहिए थी परिसाद की एवं संतता ही वे लोग इस तरह से लोग चलते रहते हैं तदस्य द्वितीय जन्म उस संसारी पुरुष का द्वितीय जन्म है आप पहले पितृ शरीर से मातृ शरीर में गया ये पहला जन्म और मातृ शरीर से बाहर आया दूसरा जन्म ये दूसरा जन्म है टिप्पणियां हैं अग्रे के ऊपर टिप्पणी थी प्रसव काल अपने पूर्व पूर्वक्षय कहा और आगे अग्रे अभिभावित में जो टिप्पणी सहित कुमारम जन्मनो अग्रे अभिभावित इसको दोनों की टिप्पणी कहा न शास्त्रीय संस्कार जिस शास्त्रीय संस्कार के द्वारा जो संस्कार करता है अपना ही संस्कार करता है भाव हाँ, संस्कार कहा चार में कहा तम आत्मान का स्व शरीर में अपने शरीर का संस्कार होता क्यों स्वयं भी मान स्त्री शरीर के माध्यम से पैदा हुआ है अपने संस्कार करता है कहा आत्मा का तब तेरह यथोक्तेन शास्त्रीय संस्कार है इत्यादि है इस शास्त्रीय संस्कार करने पर क्या हो जाता है तो ऐसा हम लोग काम नाम संत्य ही इस लोक की परंपरा बनाए रखने के लिए लोक मर्यादा चलती रहे इसके लिए छह के निपण का ये सब यशाम ये प्रसिद्ध लोक है लोकानाम लोक साधन भूतानाम पुत्र पौत्रादि नाम लोक के साधन है लोक प्राप्ति के साधन भूत पुत्र पौत्रादि जितने भी है इनके पालन रक्षा के लिए है संतत्य माने अविच्छेदाय ऐसा है लोक परंपरा चलती रहे इसके लिए ऐसा काम होता है ठीक है कहते हैं तस्या भी अंतर्वर्ती रक्षण विदत्ते वो पुरुष का भी कर्तव्य होगा जैसे स्त्री गर्भ की रक्षा कर रही है खान पान के माध्यम से तो पुरुष का भी रक्षा करना होगा क्या करना तस्या भी पुरुष भी अंतर्वत रक्षा वो जो गर्भिणी स्त्री है उसकी रक्षा करना उसका दायित्व है एक आशा भावित्री भावितव्या भवती इत्यादि कहा था सा भावित्री माने बर्भयित्री माने गर्भ की बढ़ाने वाली जो स्त्री है अपने खान पान ठीक करके गर्भ बढ़ा रही जो स्त्री भरपूर आत्मनो गर्भभूत माने भरता का ही शरीर है वो गर्भभूत पति का ही शरीर आया हुआ है वहां ऐसा भावितव्या रक्षयितव्या भवती माने भावित मतलब रक्षितव्या भवती वो रक्षा के युद्ध जाती है रक्षा करनी होगी पति को नहीं उपकार प्रति उपकार अंतरेण लोकस्य लोके कश्यचित के संबंध संबंध उपयोग जब एक दूसरे का संबंध कहीं भी होता है तो उपकार प्रति उपकार दोनों होगा तभी संबंध होगा लोग एक तरफ से संबंध कभी नहीं होगा जब वो गर्भ की रक्षा कर रही है आपकी द्वारा गई गया गर्भ की तो आपका भी कर्तव्य होगा उसकी रक्षा कर ये कहा नहीं उपकार प्रतिकार प्रति उपकार अंतरे उपकार और प्रतिकार उपकार के बिना लोग में किसी के साथ किसी का भी संबंध नहीं दिखता किसी के साथ किसी का संबंध है तो जरूर वहां उपकारी उपकारक भाव है एक दूसरे के प्रति तभी संबंध होता है जब पति पत्नी के संबंध है तो जरूर एक दूसरे की रक्षा करना वो पति के गर्भ रूप से आया हुआ पति को ही रक्षा कर रही है खान पान के माध्यम से पति का कर्तव्य उसके शरीर की रक्षा कर रही तम गर्भम स्त्री यथोक्त न धारण में विभक्ति उस गर्भ को स्त्री धारण करती है धारण के माध्यम से वृद्धि करते विभक्ति धारण पोषण करती है धारयती अग्रे प्राण जन्म ये पूर्वाग्रे का अर्थ है उस शिशु के जन्म के पहले पहले तक उसकी रक्षा करती है सपिता वो पिता भी क्या करता अग्रे एवं पूर्वम एवं जात मात्र अब जब पैदा हो गया शिशु पैदा हो गया अग्रे का अर्थ जन्म के आगे बाद जात जन्म जन्मनो अद्युतम जन्म के पश्चात जन्मनो जातम कुमारम जो पैदा हुआ कुमार है उसके जात करवा ना पिता भाव पिता उसका संस्कार करता है ठीक है सके से सा संबंध है तो भाष्य में है ना रक्षयितव्या च का यहाँ सा के साथ संबंध सा च भावितव्या रक्षयितव्या भावती है कहा स्त्री भी रक्षा के लिए च शब्द से सा सापी इत्यादि च का अर्थ अपी होगा सापी हो जाएगा तस्या भावितव्य हेतु स्त्री रक्षणीय है उस काल में पति के द्वारा इसलिए कारण बताते हैं लोक में ऐसा एक तरफ से नहीं होता दोनों तरफ संबंध जब है तो प्रति वकार और प्रति उपकार दोनों में है जब आपकी गर्भ की रक्षा कर रही थे आपका भी उसकी रक्षा करना दायित्व होगा ठीक है नहीं इत्यादि कहा नहीं उपकार प्रति उपकार अंतर है ना लोके कश्यचित कश्यचित केनचित संबंध किसी का भी किसी के साथ संबंध नहीं दिखा जब संबंध दिखता है तो उपकार और प्रति उपकार होगा तभी संबंध होगा ठीक है स्त्री पुरुषयो परस्पर उपकारकत्व उपकार उपकार परस्पर उपकारकत्व होता है स्त्री पुरुष में दोनों में एक दूसरे को उपकार उपकार पाप है स्त्री पति के गर्भ की रक्षा कर रही है और पति उसकी रक्षा कर रहा है हो पुत्र स्त्री पुरुष दोनों का पुत्र साध्य भक्षमाण पुण्यकर्म प्रतिनिधि प्रति निरूपत्व प्रति उपकार सिद्धार्थम आगे पुत्र भी उनका प्रति उपकार का सिद्धि करेगा पुत्र के द्वारा साध्य लोक मिलेगा उनको पुत्र एक लोग को जइया ऐसा पुत्र भी उनका उपकार करने वाला है पुत्र होगा तो लोक मिलेगा नहीं तो नहीं मिल रहा है इसलिए अभी उसके भी उपकार करेगा पिता पुत्र का ये कहना चाहते हैं ये बता रहे हैं कहा स्त्री पुरुष परस्पर उपकार का तुम होता स्त्री पुरुष दोनों का परस्पर उपकार जवाब पसंद करके तय हो वो स्त्री पुरुष दोनों का पुत्र साध्य बक्षमाणा पुण्य कर्म प्रतिनिधित्व प्रतिकार उपसिद्धम पुत्र के द्वारा साध्य होगा आगे जो पुण्य कर्म का प्रतिनिधि बनाना है उसको प्रतिनिधि बनाना है पुण्य कर्म के लिए इसलिए प्रति उपकार सिद्धि के लिए पुत्रम प्रति उपकार पुत्र के प्रति भी उन दोनों का उपकार तो होगा इसलिए पैदा होने से पहले पहले तक उपकार करती है स्त्री और पैदा होने के बाद संस्कार के द्वारा उपकार करता है पिता दोनों उपकार करते हैं पुत्र की तम इत्यादि का तम गर्भम स्त्री यथोक्त गर्भधारण विधान है ना विभक्ति धारा थी अग्रे प्राविधान जन्म के पहले तक वो भरण पोषण कर रही है उपकार कर रही है उसकी आगे प्रतिनिधि बना है पुण्य कर्म के फल प्राप्ति के लिए इसके लिए और पिता भी पिता अग्रे पूर्वम जात मात्र अग्रे दूसरा अग्रे का अर्थ है जो जात मात्र पैदा हो गया पुत्र उसका अर्थ है जन्मणो अध्यर्थम न जातम कुमारम जन्म से जन्म के पश्चात जो पैदा हुआ कुमार का जात कर्माधिना पिता भावे पिता भी संस्कार करता है तो दोनों यहां उपकार करेंगे आगे दोनों को उपकार वो करेगा प्रतिनिधि बन करके पुण्य कर्म के प्रतिनिधि बनेगा एक ठीक है अग्रे इति एको अग्रे शब्द जन्म पूर्व पूर्वकालम बदती यहाँ दो अग्रे मंत्र में दो अग्रे शब्द है पहले वाला अग्रे शब्द जन्म के पहले ऐसा अर्थ करेगा तब तक माता उसको उपकार करेगी द्वितीय जन काल हो अब द्वितीय जो जनन काल को लेकर के आया हुआ अधि शब्द है हो अनंतर काल बदती उसके पश्चात काल को बताता है जन्म के पश्चात या छठे एक कहा प्राग अग्रे प्राग जन्मन इत्यादि कहा था ठीक है पूर्वम एवं इत्यस्य विवरण जात मात्र जो पूर्व शब्द का ही अर्थ है पूर्वम एवं जात मात्र जात मात्र कुमार का संस्कार होता है पिता ये कहा जायमान जो पैदा हो रहा है उसका जात कर्मादि नाम है जन्मन प्राग सीमंतादिना जन्म काले सुख निष्क्रमणार्थम मंत्र जल प्रोक्षणादिना अनंतरम जात कर्मादिना इत्यादि जन्म के पहले भी संस्कार करता है पिता जन्म के बाद भी संस्कार करता है सोलह संस्कार जो माने गए हैं सबसे पहले सीमंत कर्म होता है पहले एक पुंसवन कर्म होगा तीसरे महीने में मानी गर्भ में जो भ्रूण पड़ा हुआ है उसको पुरुष बनाने के कर्म है कोई पुंसवन कर्म कहते हैं उसको और दूसरा होगा जो छठा महीना आ जाएगा तो स्त्री के केस को संभालता है पुरुष ऐसा है वो सीमंत कर्म कहते हैं उसको पहले भी है सोलह संस्कारों में है उसके बाद जाप कर्म तीसरा कर्म आएगा पहले गर्भाधान गर्भाधान के बाद में पुरुषवन कर्म पुरुषवन का सीमंत कर्म सीमंत के बाद जात कर्म होगा पैदा होने के बाद ये कहते जन्मना प्राग सीमंत आदि ना पहले भी कर्म किया हुआ है उसका उपकार किया हुआ है कर्म का सीमंत आदि कर्म के द्वारा जनन काले सुख निश्चित जनन काल में भी कर्म करते हैं क्या करते हैं वो गर्भ की प्रसव माने आराम से हो इसके लिए सुखपूर्वक बाहर आ जाए इसके लिए मंत्र जल प्रोक्षण आदि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जो जल होगा उसके प्रोक्षण आदि करते हैं स्त्री के ऊपर वो भी संस्कार है अनंतरम जात कर्मादि ना उसके बाद जात कर्मादि हो जाएगा फिर इत्यादि संस्कार है बताया श्यामंत आदिना में तीन नंबर की टिप्पणी का आदिना अनवलोभन पुंसवनादि संस्कार विशेषाग्राह्य माने ये एक संस्कार विशेष है अनलोभन संस्कार करते हैं तीसरे महीने होता है एक विशेष संस्कार है जो अड़तालीस संस्कारों में आएगा सोलह संस्कारों में तो नहीं आता अनुलोक संस्कार अड़तालीस संस्कार है विशेष तो उसमें आ जाएगा ये अनुलोक संस्कार है और पुंसवन तो है ही प्रसिद्ध है सोलह संस्कारों में है इत्यादि जन्म के पहले संस्कार होता है जन्म के बाद जात कर्मा के संस्कार है आगे फिर व्रतबंधक संस्कार चूड़ा कर्म होगा व्रतबंध संस्कार होगा कई संस्कार चलते रहेंगे आगे ये कहा समय हो गया है नहीं बच ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता नमो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आदिराविर्मयेति देवस्य समानिः श्रुतम् मे माता श्रीरमेणाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतम् वदिष्यामि भवतु माम् भवतु